प्रमुच्यन्ते काम ये हृदयश्रुताः अथ हृदयस्येह ग्रन्थया अथमर्त्यो मृतो भवति एतावद्यनुशासनम् पञ्च एका च हृदयस्य नाट्य कामा ये से हृदय पुरुष के हृदय में रहने वाले जो काम हैं वे जब छूट जाते हैं अब यह ज्ञान दशा में अपने को मर्त्य शरीर मरने वाला शरीर मानने वाला पुरुष अमृत हो जाता है और इसी जीवन में उसे ब्रह्मानुभूति प्राप्त होती है ब्रह्म से एकत्व प्राप्त होता है अब ये देखो जो चीज छूट जाती है वो अपना स्वरूप या धर्म नहीं होते और जो हम होते हैं वो कभी छूट नहीं सकता उपनिषदों में इसका बड़ा विवेक है या उपनिषद सिद्धांत है वो बालक थे और संस्कृत पढ़ते थे तो वो सब पढ़ते ना थोड़ा न्याय पढ़ते थोड़ा व्याकरण पढ़ते तो ये बात पढ़ाई जाती है कि अग्नि का धर्म दाहकत्व है और जल का धर्म शैत्य है तो इनका अपने अपने धर्मी के साथ यावत द्रव्य भावी संबंध है माने जब तक अग्नि जब तक दाहकता रहेगी तब तक अग्नि और जब तक अग्नि तब तक दाहकता अग्नि और दाहकता का वियोग कभी नहीं हो सकता जल और शैत्य का वियोग कभी नहीं हो सकता यदि वो अग्नि आदि के संबंध से गर्म कर दिया जाए फिर भी वो कालांतर में ठंडा हो जाएगा उधार लिए हुए धर्म को उधार लिए हुए धर्म को कोई रख नहीं सकता और अपना जो स्वाभाविक धर्म है उसको कभी कोई छोड़ नहीं सकता तो हमारे मन में ये ख्याल आता था कि यदि अग्नि अपने धर्म को कभी छोड़ के रह नहीं सकता जल अपने धर्म को छोड़ के रह नहीं सकता वायु आकाश अपने धर्म को छोड़ के रह नहीं सकते तो ये हमारे धर्म को छोड़ने वाली जो बात चलती है कि मुसलमान को हिंदू बना लो हिंदू को मुसलमान बना लो है ये हमारा धर्म कोई कच्चा धर्म होगा तब वो छूटता होगा अगर अग्नि के धर्म के समान या जल के धर्म के समान कोई पक्का धर्म होता तो वो छूटता कहते तो धर्म तो सनातन ही होना चाहिए परंतु जो उधार लिया हुआ धर्म होता है वो तो छोड़ नहीं पड़ता है छूट जाएगा ये एक दिन तो मनुष्य का धर्म क्या है मनुष्यत्व और पशु का धर्म क्या है पशुत्व पशु पशुत्व को छोड़ करके मनुष्यत्व धर्मवान नहीं हो सकता और मनुष्य मनुष्यत्व को छोड़ करके पशुत्व धर्मवान नहीं हो सकता तो फिर धर्म तो सनातन ही होना चाहिए तो आत्मा सनातन है अब झूठ और सत्य में आप विवेक करके देख लो झूठ सनातन नहीं हो सकता सत्य ही सनातन होगा सत्ता सनातन नहीं हो सकती वो तो कभी कभी जब युद्धावेश होगा तब होगी और नहीं तो अहिंसा ही सनातन होगी जैसे पानी कभी कभी गर्म हो जाता है ना ऐसे आदमी जब गरमा जाता है तब उसमें हिंसा आती है स्वाभाविक नहीं है तो ये काम क्रोध लोभ जो है ये पुरुष का आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है ये तो गर्माहट में आने वाले हैं आवेश में आने वाले हैं इसका जो सहज धर्म है इसका जो सहज धर्म है वो सत्य है अहिंसा है संतोष है ब्रह्मचर्य है कोई 24 घंटे चोरी करके बता दे कोई 24 घंटे ब्रह्मचर्य भंग करके बता दे और हम 24 घंटे ब्रह्मचर्य रह के भी बता सकते हैं संतोष से रह के भी बता सकते हैं इसका मतलब है कि ये जो बुराइयां हमारे अंदर हैं वो अध्याहार्य है अभ्यार है उधार है अभ्याहार दूसरे घर से ली हुई है तो और विचार करो तो धर्म की ये बात है हमने बड़े होने पर जब भक्तों का सत्संग मिला तब विचार किया कि अस्वाभाविक वस्तु है ईश्वर की गोद में रहकर उसकी सांसों में सांस लेकर उसकी चेतना से चेतना चेतनावान होकर के कोई भी जैसे एक कण जैसे आकाश का अभक्त नहीं हो सकता कोई कण जैसे आकाश का अभक्त नहीं हो सकता इसी प्रकार कोई भी जीव ईश्वर का अभक्त नहीं हो सकता भक्ति सामान्य धर्म के अंतर्गत हो जैसे सत्य है अहिंसा है ईश्वर पर जो विश्वास है ईश्वर पर जो आस्था है वो निरंतर स्मरण जो है वो धर्म नहीं है स्मृति धर्म नहीं है निरंतर स्मृति भक्ति सामान्य नहीं है परंतु निरंतर विश्वास जो है वो तो सामान्य धर्म है आस्था है विश्वास है आस्तिकता है उसके बिना तो कोई प्राणी रह ही नहीं सकता वो तो जीव का जीव का जीवत्व तो है पूर्ण के प्रति आस्थावान होना कर्ण का जीवन है आकाश के भीतर ही रहना ये कर्ण का जीवन है मनुष्य का धर्म मनुष्यत्व है जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता तो ये जो वेदांत का विचार है वो ब्रह्म विद्या है वो अग्नि के धर्म और जल के धर्म का विचार नहीं है वो कण के धर्म का और जीव के धर्म का विचार नहीं है कि तो वो जो सर्वाधिष्ठा स्वयं प्रकाश सर्वावधासक जो अद्वितीय चिन्ह मात्र वस्तु है उसका क्या स्वरूप है ये बताना वेदांत का काम है ये ब्रह्म विद्या है तो उसका कहना है कि ये जो काम है वो अनंत अद्वितीय स्वयं प्रकाश आत्मा में नहीं है हृदय में है कामना व्यक्ति में होती है कामना स्वयं प्रकाश आत्मा में नहीं होती अग्रता ये मन में रहते हो देखो हम आपको जानी पहचानी चीज जो आप हमेशा सुनते हैं महात्मा के पास गए तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण अर्थ उन्होंने बताया कि धर्म आत्मा है कि अनात्मा है धर्म आत्मा है तो वो छोड़ा नहीं जा सकता और यदि धर्म अनात्मा है तो पकड़ा नहीं जा सकता कर्तव्य यहाँ छोड़ने का मतलब क्या है कि छूटे हुए को छूटा हुआ जानना और पकड़े हुए को पकड़ा हुआ जानना आत्मा कभी छूट नहीं सकती और ये जो धर्म है ये छूटे हुए हैं ये कभी पकड़े नहीं जा सकते त्यज्य माने परित्यक्तत्व न अवबुद्ध इन धर्मों को छोड़ने की क्रिया नहीं करनी है ये छूटे हुए हैं अनात्म धर्म जो है वो आत्म धर्म नहीं है अनात्म धर्म के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है शरीर का मरना जीना हमारा मरना जीना नहीं है श्वास के लिए जो कोयला पानी चाहिए ना गिलास गिलास पानी है ना और बड़े बड़े ग्रास प्राण का भोजन है आत्मा का भोजन नहीं ये जो संकल्प विकल्प काम संकल्प विचिकित्सा ना शरीर धीर भी हृय सर्वम मन एवं लज्जा कहते हैं जिसको भय कहते हैं जिसको समझदारी कहते हैं है? जिसको सुख सौभाग्य बोलते हैं जिसको विचिकित्सा संशय बोलते हैं ये जो काम है संकल्प है विचिकित्सा है ये सब क्या है ये सब बृहदारण्य उपनिषद में आए ये सब सर्व मन है सब मन ही है मन ही है प्रतिष्ठता का अर्थ मन से स्थिरता है अयस्य न तो आत्मनि इत्यर्थ काम जो है ये आत्म धर्म नहीं है ये काम मनोधर्म है मनोधर्म है ब्रजहास जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मगतान नहीं है आत्मा में कोई काम नहीं है क्योंकि काम रहे तब भी आत्मा काम न रहे तब भी आत्मा है काम अकाम दोनों सच्चे हों तब भी आत्मा और काम अकाम दोनों मिथ्या हो तब भी आत्मा सबसे बड़ा कामी होवे और जब नींद आ जाए तो काम का पता कहाँ लगेगा तो वैशेषिक न्याय और वेदांतियों के संप्रदाय में भर्तृ प्रपंच इनका सिद्धांत है ये काम संकल्प आदि जो हैं वो जीव के धर्म हैं परंतु जीव तो परिच्छिन्न है जीव तो करता है जीव तो भोगता है तो मन रूप उपाधि से ठीक ठीक विवेक न होने के कारण उसको जीव का धर्म माना और जो वेदांत के संप्रदाय है वो काम संकल्प विचिकित्सा आदि को जीव का धर्म नहीं मानते आत्मा का धर्म नहीं मानते अनात्मा का धर्म मानते हैं अब जरा छोड़ने की बात भी आपको सुनाते हैं इनका छोड़ना क्या है आदमी के मोह के सिवाय इनके छोड़ने में और कोई बाधा नहीं है जो मोह है ना वही बाधा है जरा गांव की गंदी बात आपको सुनाते हैं उससे मदद मिलती है वो मैं वृंदावन में था तो बीकानेर से एक सज्जन पैदल चल के हमारे पास आए आप समझो कि राजपूताने में बालू के टीले पार करके पैदल चल के आना बड़ा मुश्किल बड़ी बड़ी दाढ़ी उनकी और लोटा डोरी हाथ में और सामान्य कंबल एक बिछाने का कांख के नीचे दबाए आए तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारी स्त्री जो है वो दूसरे पुरुष से फंस गई है हम बहुत दुखी हैं हमें जरा भी शांति नहीं है बेचैनी है तो हम आपके पास आए हैं कि हमको शांति मिले ऐसा उपाय बताओ तो मैंने कहा कि छोड़ दो ऐसी स्त्री को है ना वो जिसके साथ जाती है उसके साथ जाने दो जब वो तुम्हारे प्रति वफादार नहीं है धर्म का पालन नहीं करती है तो तुमको ऐसा क्या मोह है तो उसको कि जाओ तुम घर से उसी के साथ रहो वो छोड़ दो तुम अपने घर में अकेले रहो ताकि महाराज बच्चे हैं तो मैंने कहा कि अच्छा बच्चों की अगर उसके बिना नहीं चलती है तो तुम घर में किसी और को बच्चों की सेवा कोई बहन बुला लो अपनी कोई बेटी बुला लो कोई रिश्तेदार नातेदार बुला लो बोल कोई नहीं है मैंने कहा अच्छा तुम बच्चों को उसके पास छोड़ दो और तुम अलग हो जाओ भी नहीं होगा हम तो उसके बिना रह ही नहीं सकते क्योंकि हम तो उसके बिना रहे नहीं जब तुमको ये बात मालूम हो गई कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं है दूसरे की हो गई है तो उसको छोड़ क्यों नहीं देते एक सवाल है कि नहीं है तो वो है उससे मिल उससे हमको सुख मिलता है उसके द्वारा जो भोग जो रोटी बनाती है वो हमको बहुत अच्छी लगती है जो भोग मिलता है वो हमको बहुत अच्छा लगता है नहीं छोड़ सकते तो मोह है इसका नाम मोह हुआ मोह ये जो मन है इसको हम छोड़ क्यों नहीं सकते तो ये है कि हम मन वासिष्ठ में बहुत अद्भुत कथा आई है संस्कृत साहित्य का रत्न है वो रत्न है और ईश्वर कृपा से मैं उनके बारे में जानकारी रखता हूँ है ना हम आजकल की कहानियों का जो रूप हो गया है उसका वर्णन आपको सुनावे हैं तो आप छी छी करने लगेंगे तो अनाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार का ऐसा नग्न रूप आ रहा है सामने कहानियों को लोग नहीं पढ़ते हैं हाँ, महाभारत नहीं पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ेंगे पुराण नहीं पढ़ेंगे जोग वाशिष्ट नहीं पढ़ेंगे एक कहानी आपको सुनाता हूँ श्री का पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके जिससे मुर्दे को जिंदा कर दिया जाए वो विज्ञान शुक्राचार्य से प्राप्त करके दैत्यों में भौतिकी विद्या बहुत उन्नति की उन्नति पर थी हो बहुत उन्नत थे आया तो अपने बाप को कुछ समझे ही नहीं उत्तर हो गया पति ने देखा कि हमारा पुत्र तो विद्या से विनय आना चाहिए ना विद्या ददाती विनयम अति औधत्य औधत्य नहीं विनय आना चाहिए बस वो लोग होते हैं जिनके अंदर हीनता का भाव होता है अपने को स्वाभाविक रूप से छोटा समझते हैं और बनावटी बड़प्पन दिखाते हैं तो कहीं उनके बनावटी बड़प्पन पर चोट लगती है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं सचमुच बड़ा है हाँ, उसको अगर कोई छोटा बता दे तो कोई तकलीफ नहीं होती है कुछ बड़े को अगर छोटा बता दे कोई करोड़पति को अगर गरीब बता दे तो करोड़पति को हंसी आएगी कोई गरीब को जो अपने को करोड़पति बता रहा है अगर कोई सिद्ध करने लगे आया था तो उसका अखबार ज्यादा नहीं निकलता है शर्मा जी ने कह दिया कि इसका अखबार तो कोई पूछता ही नहीं है है ना दो तीन सौ तो छपता ही है रोज आई हो किसी हो तो अपने को जाहिर करना चाहता था कि हमारा बहुत निकलता है तो लड़ाई कहाँ होती है कि जहाँ भीतर हीनता का भाव होता है और हम बड़प्पन का दम्भ करते हैं तब उस पर चोट लगती है और करोड़पति आदमी को कोई लखपति कह दे तो कहेगा अच्छा हुआ छिप गए है ना जाहिर नहीं हुए नहीं तो चंदा ज्यादा देना पड़ता है ना रहे धस्य जो है वो हीनता के भाव से ग्रस्त प्राणी में ही ज्यादा आता है सम्मुख ये लोग जो अपना ज्ञान बगाड़ते हैं ना ज्ञान वो ऐसे ही है जैसे नौकर अपने मालिक के सामने मुंह चहटता हुआ मुंह चहटता हुआ जाए अच्छा क्यों बेटा तुमको शांति मिली ने कहा पिताजी शांति तो नहीं मिली नहीं को तो शांति नहीं मिलती हो क्योंकि तो काम है ना और चाहिए और और अभिमान क्योंकि एक घेरे में रहता है अभिमान का स्वभाव आप जानते हैं अभिमान का स्वभाव है घेरा बनाना एक घेरा बन गया हमारी ऐसी जाति है बनी और घेरा बना दूसरी जाति वाले दुश्मन हो जाएंगे ना ब्रह्म पराधा जून्यत्रात्मनो ब्रह्म भेद ब्रह्म परम पराधा क्षत्रम वेद बृहदारण्य को उपनिषद में आया जो अपने को अपने से अलग जो ब्राह्मण को समझता है ब्राह्मण उसका शत्रु और जो क्षत्रिय को अपने से अलग समझता है क्षत्रिय उसका शत्रु देवता को जो अपने से अलग समझता है देवता उसका शत्रु और अभिमान वही होता है जो अपने को एक घेरे में एक मान में एक परिमाण में साढ़े तीन हाथ में एक जाति में एक प्रांत में एक राष्ट्र में है ना प्रियता भी एक अभिमान है पता भी एक अभिमान है तो भी एक अभिमान है प्रांतीयता भी अभिमान है धनीपना अभिमान है सदगुणीपना अभिमान है विद्वानपना अभिमान है तो अभिमान होता है घेरे में तो हमेशा कैद से निकलने की कोशिश करता है करने के लिए व्याकुल हो बेचैन हो वैसी उसकी स्थिति होती है शांति तो नहीं मिली पिताजी की शांति नहीं मिली बेटा तो त्याग करो एक वर्ष तक सारे कपड़े छोड़ दिए दूसरे वर्ष में दंड कमंडलू भी छोड़ दिया तीसरे वर्ष में उसने कौपीन भी छोड़ दिया चौथे वर्ष में खाना पीना भी कम कर दिया लेकिन नहीं मिली ने कहा क्यों बेटा तो शांति मिलेगा तो नहीं पिताजी अब मैं अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम कहते हो त्याग करो त्याग करो त्याग करो तब शांति मिलेगी अब मैं अपने शरीर का ही त्याग करता हूँ और चिता बनाई और कूदने के लिए तैयार तब बृहस्पति ने हाथ पकड़ लिया बेटा ऐसा त्याग नहीं होता अगर शरीर को तुम आग में जलाओगे तो जिस वासना से शरीर बना है वो वासना बनी रहेगी फिर से शरीर बन जाएगा तुम्हें देह बंधन से छुट्टी नहीं मिलेगी तब पिताजी त्याग क्या होता है वर्ष में से एक एक पैसा निकाल के फेंकने का नाम त्याग नहीं है कि फेंक देने का नाम त्याग है बोले तो ये जितनी कामनाएं हैं वो कहाँ रहती हैं चित्त में रहती हैं कभी सोता है और कभी जागता है कामनाएं कभी सोती हैं कभी जागती हैं है? कुछ सोता और जागता है और तुम बेटा न सोते हो न जागते हो तुम एक रस रहते हो तो चित्त त्यागम वेदो सर्व त्यागम असल में चित्त का त्याग जैसे हम मकान को जब मैं मेरा समझ लेते हैं तो उसकी मरम्मत है ना उसका पोषण क्षित हो जाता है ना देहात में जब मिट्टी के घर होते हैं ना मिट्टी के घर तो हमने देखा है कभी कभी किस बात पर झगड़ा होता है अब का दिन है वर्षा हुई तो धरती जो है वो गीली हो गई गीली हो गई अब गए कोई शौच गए लौटे और गीली मिट्टी है तो उससे हाथ कैसे मटियावे उन्होंने पड़ोसी के भीत में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली कुर्सी के बीच में से मिट्टी निकाली और बस समझो कि अब लाठी चली तो भाई पड़ोसी ने बड़े प्रयत्न से भीत बनाई है जैसे मकान के साथ तादाद में हो जाता है वैसे इस देह में ये बिंदु बन करके मैं बैठ गया है देह में तो फिर देह का जन्म अपना देह का मरण अपना और प्राण में मैं करके बैठ गए तो भूख प्यास अपनी मन में मैं करके बैठ गए तो काम संकल्प चिकित्सा आदि अपनी है और बुद्धि में मैं करके बैठ गए तो विद्या बुद्धि अपनी आनंद में भोग में मैं करके बैठ गए सुख में मैं करके बैठ गए तो सुख अपना तो ये ये सब एक पर्स में रहते हैं वो का संकल्प विचिकित्सा इनका पर्स क्या है कि इनका पर्स है चित्त तो चाहते हो कि इसको हम एक एक पैसा डालते डालते भर देंगे तो संसार की सारी संपत्ति उसमें अट जाएगी और हम सारी संपत्ति के मालिक हो जाएंगे वो भी गलत है और जैसे हो कि एक एक पैसे निकाल निकाल के हम त्यागी बन जाएंगे तो वो भी नहीं ज्यो की त्यों धरिदीनी चदरिया दास कबीर जतन सौड़ी ज्यो की त्यो धरी देनी चदरिया ओढ़ावे चदरिया चलती बेरिया जीनी जीनी बीनी चदरिया झीनी झीनी जीनी जो बीनी हुई माने भिन्न भिन्न कर्म करते करते करते इनकी वासना वासनाओं से ये बुनी हुई जो चदर है संस्कारों में संस्कारों से बनी हुई ये जो पंचभूत की सात्विक तन्मात्रा प्रकाश प्रभाव प्रकाश प्रधान जो चद्दर है चमचम की रोशनी से बाहर के विषय रोशन होते हैं और प्रकाशित होते हैं ये जो चद्दर है ये न मैं और न मेरी अंतकरण से मैं और मेरे पन का जो विवेक है अंतकरण मेरा नहीं है अंतकरण मैं नहीं है तो जब मैं अंतकरण वाला नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ तो वेद तो बताता है कि तत्वमसी तुम अनंत हो तुम ब्रह्म हो तुम अद्वितीय हो या के सारे अंतकरण हमारे हैं या तो कोई नहीं है दो ही स्थिति हो सकती है अब हम अपने मैं को इस अंतकरण के घेरे से निकाल लेंगे निकाल लेंगे निकालने का अर्थ ये नहीं है कि कलेजे में से निकाल के सिर में रख लिया या सिर में से निकाल के छत पर रख लिया ऐसा नहीं निकालने का अर्थ निकालने का अर्थ ये है कि जब हम मैं को अंतकरण से परिच्छिन्न जो समझते हैं ना ये भ्रांति मिट जाएगी निकलने का निकलने का अर्थ ये है कि जो हम अपने को अंतकरण से परिच्छिन्न समझते हैं माने अंतकरण का शोक मेरा अंतकरण का मोह मेरा अंतकरण की ममता मेरी अंतकरण में जो गुण दोष आते हैं सो मेरे जागृत स्वप्न सुषुप्ति मेरी एक अंतकरण पिटी का अंतकरण है सो मेरा और जो मछली का अंतकरण है सो मेरा और जो इंद्र का अंतकरण है सो मेरा जो ब्रह्मा का अंतकरण है सो मेरा नारायण सब अंतकरण मेरे हैं तो केवल एक अंतकरण की ही चिंता अपने सिर पर क्यों लेते हो और यदि कोई अंतकरण अपने में नहीं है ऐसा लेने की कोई बात ही नहीं रही और फिर सब अंतकरण मेरे हैं तो तुम किस अंतकरण में बैठकर चिंता कर रहे हो चिंता तो अंतकरण ही है ना किस अंतकरण में बैठ करके चिंता कर रहे हो अंतकरण के गुण दोष के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है क्योंकि अंतकरण ही मेरा नहीं है अंतक ही मेरा नहीं है अंतकरण के घेरे वाला मैं नहीं हूँ और मुझ अखंड में अंतकरण की सत्ता ही नहीं है तीन बात हुई अंतकरण मेरा नहीं है ये तो जब तक इससे भोग लेना होता है ना नौकर को आदमी कब तक नहीं छोड़ता है मित्र थे अब हैं कि नहीं है पच्चीस वर्ष से कम से कम मिलना नहीं हुआ है उसके बाद फिर मिले नहीं हमसे ही नहीं की जिंदा है कि फर्क आबकारी इंस्पेक्टर पुराने जमाने अंग्रेजों के जमाने में हो बड़ी भारी आमदनी थी हाँ वो वाले जुआ वाले है ना और क्या नाम है ताल वाले और गाजा वाले अफीम वाले सबसे उनको खूब पैसा मिलता था मुझको बुलाया उन्होंने एक बार कि बाबा जी आप आओ हमारे उनके यहाँ तो और सब तो बढ़िया लगे उनका जो नौकर था वो जैसे उनके सिर पे हावी हो डांट दे हो डांट दे है ना उनकी बात न माने वो कहे कुछ कर दे कुछ वो कहे कुछ वो बना दे कुछ वो लाए कुछ ला दे कुछ वो चुपचाप सह लेते थे तो मंत्र ने उनसे पूछा तुम अपने नौकर से इतने दबे हुए क्यों हो उन्होंने हमको बताया हमसे हम तो, तो गुरु जी हैं हम तो गुरु जी हैं हम तो लोग छिपाते नहीं हैं छिपाते हैं उनके गुरु जी नहीं है <laughs> बोले कि पंडित जी है ना बाबा जी हमको बोलते बाबा जी हमारे वंश को बाबा जी ही लोग बोलते थे कि ये देखो रिश्वत हम लेते हैं तो इसके द्वारा लेते हैं सब मालूम है कि हमने किससे किससे रिश्वत ली है है ना तो औरत को बुलाते हैं तो यही जाके बुला के ले आता है पैसे तो कहाँ रखे हैं ये इसी को मालूम है अब हम अगर इससे लड़ाई कर लें तो ये तो हमारी सारी पोल पट्टी खोल देगा ये काम चलाते हैं कि आदमी मन की इतनी सहता क्यों है शोक दे मन मोह दे मन दुख दे मन मोह दे मन है ना बेचैनी दे मन अशांति दे मन इस मन की हम लोग इतनी सहते क्यों है अब ये है कि ये मन दुनिया में से कभी कभी प्यार भी तो निचोड़ के ले आता है ना तो लाता है ये भोग का जो सुख मिलता है कर्म का जो सुख मिलता है धन का जो सुख मिलता है रिश्ते नाते का जो सुख मिलता है तो ये सुख भी तो मन ही देता है ना इसके इतने दबाव में आ गए हैं कि इसको छोड़ नहीं सकते सुख देता रहता है हाँ, जैसे शराब पीने वाले जो है ना वो शराब नहीं छोड़ सकते अब नशा उतरने पर कई बार लोगों को देखा है रोते हैं और हम कभी बोलते हैं कि महाराज हम आपको छूने लायक नहीं है जिनके चित्त में ज्यादा गिलानी है ना धर्म का संस्कार है और जो उद्दंड है जो जिनको अभ्यास पड़ गया है समझ जाओ जो उसी की आदत में हो गए हैं उनको तो बुरा नहीं लगता है जिनको धर्म का संस्कार है उनको बुरा बोले महाराज मैं आपको छूने लायक नहीं आपको ये बात सुनाता हूँ तक देखते हैं कि जो लोग हमारे गांव के आसपास जो लोग मांस खाने वाले हैं ना तो राजपूत लोग बहुत हैं हरा बचपन ना राजपूतों की बुरुआई करते पिता तो वो कहते महाराज हमारे घर का बर्तन आपके खाने लायक नहीं है उन्हें बर्तन में मांस बना के खाते हैं मछली बना के खाते हैं ना तो उस बर्तन की बनाई रसोई हमको नहीं खिला देते तो हम ब्राह्मण के घर से बर्तन ले आते हैं उसमें रसोई बनवाएंगे तब आप भोजन करना ये जो हमारा मन है ये मन असल में बर्त ही है बर्तन ही है इसमें गंदगी भरी है ये दुख देता है ये हम जानते हैं लेकिन इससे जो कभी कभी सुख मिलता है उस सुख के भोग में जो हमारा राग है ना जो मोह है जो हम उसके सामने अपने को आत्मसमर्पण कर चुके हैं इसके कारण मन को नहीं छोड़ पाते मन नहीं होगा तो हमको रूप देखने का रस स्वाद कहाँ से आवेगा है ना स्पर्श का स्वाद कहाँ से आवेगा संगीत का मजा कहाँ से आवेगा है ना दही बड़े का मजा कहाँ से आवेगा मन मन को ही छोड़ देंगे अरे जा बेटा है ना जो मजा तू दे सकता है वो हमको चाहिए ही नहीं क्या क्या होता है वैराग्य से मन छूटता नहीं वैराग्य आने से मन को छोड़ने की योग्यता आती है धन से पाने वाले सुखों के प्रति जब वैराग्य का भाव आता है तब हम कहेंगे कि हे मन है ना जड़ का तू जड़ का बेटा है तू जड़ का बेटा है तू अन्य है तू नौकर है हमारे कहे अनुसार चल तो चल नहीं तो निकल जाएगा जल्दी कर दो नहीं लौटने देंगे तुमको घर में कहो कि जाओ हम तुमको अपनी आत्मा में नहीं आने देते हैं तुम्हारे जहाँ बाहर ही रहना हमारे पास नहीं आना मिनट में तुम्हारे पाँव में आके मन गिरे कि हमको हृदय के भीतर घुसने दे दो मिनट के भीतर मन चरौरी करने लगेगा कह दो भूत में स्थान में नहीं आने देंगे जा दो भविष्य में हम वर्तमान में नहीं आने देंगे हाँ? जादू बाहर हम भी तो नहीं आने देंगे इस नौकर के चक्कर में हम तो ऐसे फंसे हैं कि इसके बिना रह नहीं सकते जब ये आता है तो अपना गंदा कपड़ा भी ले आता है अपने शरीर की दुर्गंध भी ले आता है, है? अपनी जात की जो बुरी संस्कृतियाँ हैं वही तो वही तो होता है ना उसको भी उसको भी लेके आते हैं तो जो है तो ये कामा जदा सर्वे प्रमुचन से कामा ये हृदय श्रता त्याग करो कि किसका त्याग करो कि काम का त्याग नहीं ग्रंथि विमुख प्रमुच्यम ग्रंथि विमुख द्रव्य में जिस अंतरदेश में और जिस काल में के सोने और जागने का समय पर पहचान लो और उसके है ना घूमने और सोने की जगह पहचान लो और वो जिस मसाले से बना हुआ है उस मसाले को पहचान वो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा बेटा नहीं है मन जो है वो तुम्हारा बेटा नहीं है तुम्हारी पत्नी नहीं है तुम्हारा कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है एक परदेशी तत्व तुम्हारे अंदर घुस गया है और ऐसा चिपक गया तुम्हारे साथ कि अमृत होने पर भी अमृत से पुत्र धृत के पुत्र होने पर भी अपने को मृत्युग्रस्त मृत्युग्रस्त समझने लगे हो तो न मृतम मर्त्यम अपने प्रारंभ वाली बात फिर से ले लो जो धर्म है स्वधर्म है वो छूट नहीं सकता जो परधर्म है वो हमेशा रह नहीं सकता पराया हमेशा के लिए अपना हो नहीं सकता और जो अपना है वो हमेशा के लिए पराया हो नहीं सकता न भवत अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृति अन्यथा भाव न कथनचित भविष्य रे पादाचार्य ने गौर पादाचार्य ने कहा कि न भवत्य अमृतम मर्त्या जो अमृत है वो कभी मर्त्य नहीं हो सकता न मर्त्य अमृतम तथा जो मर्त्य है वो कभी अमृत नहीं हो सकता प्रकृति अन्यथा भाव न कथनचित भविष्य प्रकृति का अन्यथा भाव जो चीज जैसी है उसका अन्यथा भाव कभी हो नहीं सकता अंत विद्या ब्रह्म विद्या बताती है तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो न काम के विषय हो न आश्रय हो न तो तुम्हारी कामना कोई कर सकता है तो कोई चाह नहीं सकता हो बड़े प्रेमी है तो किसी ने देखा ही नहीं है तुमसे प्रेम क्या करेगा ये, ये तुम प्रेम के विषय भी नहीं हो कि दुनिया का कोई स्त्री कोई पुरुष कोई कोई वस्तु कोई पशु कोई पक्षी कोई कुत्ता है ना कोई कुत्ता कोई धार रखते हैं लोग ये हमसे बड़ा प्रेम करता है पूछ हिलाता चलता है और क्या नाम है हमारे घर के रखवाली करता है कई ऐसे प्रसंग देखे हैं हो हाँ दिल में चोर गांव में आते हैं दिन में कुत्ते को गुड़ खिलाते हैं एक दिन आके खिला गया दो दिन आके खिला गया ना गुड़ गुड़ है ना अब तो वो कुत्ता जो है ना चोर को देखते ही पूछ हिलाने लगता है और रात को जब आता है तो बिल्कुल नहीं भूखता है चोरी करके ले जाता है तुम जो ये समझते हो कि कुत्ता हमसे प्रेम करता है वो तुमसे प्रेम नहीं करता गुड़ खिलाने वाले से प्रेम करता है गुड़ खिलाने वाले से प्रेम करता है तुम्हारे मन की जो परिस्थिति है ना जो तुम ये समझते हो कि तुमसे कोई प्रेम करता है ये गलत जो तुम समझते हो कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो है हाँ। क्योंकि तुम ना प्रेम के विषय हो प्रेम के विषय तो तब होते काम के विषय तुम तब होते हाँ। जब तुमको कोई ठीक ठीक जानता देखता तुमको देखता कि तुम क्या हो और तुमको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण ब्रह्म कोई जान जाए तो तुमसे प्रेम काय को करेगा है ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं है है ना न ले और यदि तुम अपने को जान जाओ कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तो किसी के मोह में प्रेम में राग में क्यों फंसो सर्वस्थ अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृति रजथा भाव न कथनचित भविष्य शंकराचार्य भगवान ने कहा दुखी यदि भवेद आत्मा का साक्षी दुख न भवेद आत्मा कभी दुखी नहीं होता वो तो दुखी जीव का साक्षी है दुखी मन का साक्षी है वो तो दुखी अंतकरण का साक्षी है जो तुम्हारे दिल में बैठ करके रो रहा है ना मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी हैं उसको जानने वाले तुम हो वो तो जो रो रहा है जैसे सड़क पर कोई रो रहा हो ना कि मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी तो उसको देखने वाला कहो का कब ऐसे तुम्हारे कलेजे के भीतर बैठ करके कोई रो रहा है मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी उसको देखने वाला कौन का है ना साक्षी दुख न भवे साक्षी है वो दुखी नहीं है जो दुखी है वो साक्षी नहीं है, है? यदि बंधन स्वाभाविक होता तुम सचमुच अंतकरण वाले होते तो अंतकरण को कभी छोड़ नहीं सकते नहीं छोड़ सकते करण वाले हो ही नहीं करण वाले होते तो कभी छोड़ नहीं सकते है ये अंतकरण ये कि आत्मा सचमुच बद्ध होता तो ये कभी मुक्त नहीं हो सकता अपना धर्म अपना स्वभाव अपना स्वरूप कोई वस्तु नहीं छोड़ती है लेकिन तत्व ज्ञान से तो ये आत्मा मुक्त हो जाता है तो मुक्त होता नहीं है पहले से मुक्त रहता है जिस समय आप समझते हो ना हम बद्ध हैं इसके बिना नहीं रह सकते तो वही होता है सुषुप्ति में छूट जाए समाधि में छूट जाए मरने पर छूट जाए है ना जो लोग बड़े प्रेम से ब्याह करते हैं उनका जोश तीन बरस तो <laughs> है ना हाँ जैसे है ना बैल जब गरीरा हो जाता है तो उसको मार मार के जोतना पड़ता है ये घर गृहस्थी जो लोगों की चलती है ना उसको पहला प्रेम दो तीन बरस में जब शिथिल पड़ जाता है तो उसको जगाने के लिए हाँ, उसको जगाने के लिए रूठना पड़ता है लड़ाई करना पड़ता है मुंह फेरना पड़ता है तब तो वो जागता है कहीं भी ये मोह आत्म धर्म है ही नहीं आत्मा यदि बद्ध होता है तो कभी मुक्त नहीं हो सकता करधाम जी महाराज ने कहा कि जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो उसको कभी कोई शीतल नहीं कर सकता प्रकार यदि आत्मा का स्वभाव आत्मा का स्वभाव बंधन हो तो इसको कभी कोई मुक्त नहीं कर सकता आत्मा माँ कांक्षी स्तरी मुक्तता नई स्वभाव भावा नाम व्यावर्ते तौष्ण्यवत द्रवे सूर्य प्रताप कहते हैं कि जैसे सूर्य का स्वभाव उष्णता है और वो बदल नहीं सकता इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव अमृत है अमृत अथ मृत्यो मृतो भवती शत्र ब्रह्म समस्त है ये जो अपने को तुम मृत्यु वाला समझते हो कैसे समझते हो मैं मैं देह में मैं ये उठाना नहीं है बैठाना नहीं है केवल जानना है केवल जानना है तुमने अपने को जीव किस प्रमाण से जाना है किसी प्रमाण के भ्रांति से अपने को जीव जाना है तो नारायण अपने को अणु जाना है का अपने को विभु जाना है अपने को मध्यम परिमाण जाना देह के बराबर अपने को जाना किस प्रमाण से जाना तो तुमने अपने को अणु परिमाण कैसे जाना हमारे बड़ों ने कहा है बड़ों के कहने से अपने को अणु जानता है एक बड़ों के कहने से अपने को शरीर के बराबर जानता है एक अपने को बड़ों के कहने से अनुमान से है ना अपने को विभू तो जानता है लेकिन सब विभू अलग अलग हैं ऐसा जानता है विद्वान ने एक बुद्धिमान ने कहा तो आत्मवंचना है शांति की तो जन्म मरण करण है प्रति निवृत्ति सुख दुख इन आत्मा का धर्म नहीं मानता तो है ना आत्मा तो दृष्टा है आत्मा का धर्म नहीं है जन्म लेना आत्मा का धर्म नहीं है मरना आत्मा का धर्म नहीं है अंतकरण आत्मा का धर्म नहीं है, है? और प्रवृत्ति और निवृत्ति आत्मा का धर्म नहीं है और सुखी होना दुखी होना आत्मा का धर्म नहीं है वो तो दृष्टा है जो आत्मा का धर्म नहीं है जन्म मरण करण है ना प्रवृत्ति निवृत्ति सुख दुख उन्हीं के भेद से आत्मा में भेद सिद्ध करता है कि सबके जन्म अलग अलग होते हैं सब अलग अलग मरते हैं सबके अंतकरण अलग अलग है सबकी प्रवृत्ति निवृत्ति अलग अलग है सबका सुखी बना दुखी बना अलग अलग है इसलिए आत्मा अनेक है जिसको तुम आत्म धर्म नहीं मानते जिससे विवेक करके सिद्ध करते हो कि ये सब प्रकृति में होते हैं और आत्मा दृष्टा ज्ञान मात्र है व्यक्ति मात्र है जो तुम इतना प्रयत्न करके सिद्ध करते हो जिस पृथक्व को जिस विविक तत्व को जिस विविक तत्व को कि प्रकृति से विविक्त है आत्मा इतना प्रयत्न करके सिद्ध करते हो और फिर कहते हो कि उन्हीं कारणों से आत्मा अलग अलग है, है? ये बदतो व्याघात जैसे कोई बोले कि मेरे मुंह में जीव नहीं है और बोल के बतावे तो उसका बोलना बिल्कुल गलत है इसी आत्मा को असंग दृष्टा सिद्ध करने के बाद और प्राकृत हेतुओं से आत्मा को अलग अलग बतावे तो वो बिल्कुल असंगत है कैसी प्रकार ये आत्मा अमर है वो आत्मा अजर है आत्मा अमर है अजन्मा है एक रस है अखंड है अद्वितीय है अविनाशी है परिपूर्ण है ऐसा है इसी से वो ब्रह्म होता है अगर ऐसा होता नहीं तो ब्रह्म बन नहीं सकता था और यदि अब ब्रह्म होता तो ब्रह्म बन नहीं सकता ब्रह्म होता तो अब ब्रह्म बन नहीं जाता मुझ अब ब्रह्म बना नहीं है ये केवल भ्रांति केवल भ्रांति से ऐसा भाग रहा है ग्रंथियों का विचार है वो थोड़ा ग्रंथि क्रोधक ग्रंथि अविद्या वासना की जो ग्रंथि है वासनाट पड़ती है से भौतिक वस्तुओं में संस्कार देते हैं ना वो रंग देते हैं तो कब भौतिक है उस पर रंग भी भौतिक चढ़ता है का, माटी का बना सूत और माटी का बना रंग माटी पर माटी चढ़ जाती है तो वासना पर वासना का रंग चढ़ता है अन्य पर नहीं चढ़ता बिल्कुल चैतन्य पर वासना का रंग नहीं करता अब ये बात आपको कल सुना है